सम आपको क्या विरुद्ध नहीं है आप सब जानते हैं उसका संकल्प ये है सृष्टा चरा गम तपो योग समाधिमा के सर्वकृष्णित परमेष्ठी निजासन वो चराचर प्राणियों की सृष्टि करके ब्रह्मा जी सबसे उच्च आसन पर बैठे मैं भी ऐसी तपस्या करूंगा जो ब्राह्म पद को पा करके मैं सब उतल उतल कर दूं अन्नछेदम विधा से हम अब जितने नियम हैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए हम सब उनको उल्टा करते हैं तो महाराज आपके सारे विधान को उलट देगा आपके पद को प्राप्त करने के लिए वो तपस्या कर रहा है इसलिए महाराज जब तक आपका आप इस स्थान पर हैं तब तो ब्राह्मणों के लिए गऊ के लिए बड़ा आनंद है सुख है अगर ये आपके आसन पर ये दुष्ट आ गया तो फिर देवताओं का कहां कुशल है देवता ब्राह्मण गऊ इनकी कुशल नहीं है ब्रह्मा जी ने उन देवताओं के वचनों को सुनकर के भगुआ आदि ऋषियों को साथ में लेकर के वहां आए जहां हिरण्य कशपू तपस्या कर रहे पहले तो देखा उसको दिखाई नहीं ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दिया क्यों उसके शरीर पर चारों ओर से मिट्टी चढ़ी हुई थी बल्मीक तृण चकई गुप्तम प्रथमम न प्रदर्शक उसकी चमड़ी को तो दीमक खा गई थी चारों ओर मिट्टी मिट्टी दिखाई दे फिर कथनचित आलक्ष्य ब्रह्मा जी ने देखा अरे यही हो सकता तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में से जल लेकर के उसके ऊपर छिड़का और, और फिर वो उसमें से ब्रह्मा जी के जल जब छिड़कने से जो मिट्टी को इधर उधर खा करके वो प्रकट वो प्रकट हुआ ब्रह्मा जी बोले उत्कृष्ट उस्तित्व बदलते तपस्त दोष कर्षित अरे होठ रोज मेरा निकट तुम तप करके सिद्ध हो गए देखो तुमको वर देने के लिए हम यहां खड़े हैं जो चाहो वो वर हमसे मांगो इतना धैर्य बोलो हमने आज तक किसी को नहीं देखा दंश भक्षित देह से प्राणा यस्थित शेर से तुम्हारी चमड़ी को दीमक खा गई तुम्हारे शरीर में मांस नहीं है रक्त नहीं है चाम नहीं है केवल हड्डियों के सहारे प्राण चल रहे हैं ऐसी तपस्या तो आज तक किसी ऋषि ने नहीं की और ना आगे कोई कर सकता दिव्य सौ वर्ष तक कौन प्राणों को धारण कर सकता इसलिए तुम्हारे दुष्कर तप से हम प्रसन्न हैं बोलो हे प्रतिनंदन क्या चाहते हो क्या मांगते हो ऐसा कहकर के जब नानी ने वो जल चढ़ता कमंडलू का तो उसमें से जो हिरण्य कटु जो है उठ करके खड़े हुए सर्वावयव संपन्न सब अवैध उनके जौके तो ठीक हो गए ऐसा मालूम होता था ऐसा उसके शरीर का तेज रंग हो गया तो जैसे तपा हुआ स्वर्ण होता उसने ब्रह्मा जी को देखा हंस पर चढ़े हुए हैं पृथ्वी पर सिर रख करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उठ करके हर्ष के कारण हर्षेर पूर्णाक्ष आनंद के आंसू उसकी आंखों में भरे हुए थे आंसू भी दो तरह के होते एक शोकाश्रु और आनंदाश्रु आनंद के आंसू भी होते हैं शोक के आंसू भी होते हैं मैंने वेद क्या होता है शोक के आंसू होते हैं कुछ गर्म होते हैं और आनंद के आंसू होते हैं ठंडे होते हैं हिरण्य कष्टु स्तुति करने लगा हे देव तम तपसा व्याप्तम जगत प्रकटम कृति ये सारा जगत पहले ये अज्ञान से व्याप्त था ज्ञान में लीन था आपने ही तो इसको प्रकट किया आप ही इसको उत्पन्न करते हैं आप इसका पालन करते हैं आप उसको अपने में लीन कर लेते हैं आप तीनों गुणों के आश्रय हैं मैं आपको प्रणाम करता हूं ये संसार के आप आदि कारण हैं ज्ञान विज्ञान आपकी मूर्ति है मैं आपको प्रणाम करता हूं ये विभो आप चराचर प्राणियों के नियंता हैं त्वेव वेदत्र रूपेण यज्ञान विस्तारेसी त्वम काल तुम काल रूप से प्राणियों की आयु का अपहरण करने वाले हो आपसे व्यतिरिक्त ये जगत नहीं है अतस्तम हिरण्य गर्भ हे विभो तम स्वस्वरूप स्थित सन आप सदा अपने स्वरूप में स्थित होकर के और शरीरों के इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपयोग करते हो अतस्तम ब्रह्म ही वासी ही न आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं मैं आपको प्रणाम कर हे अनंत यश तब सूक्ष्म रूपेण विश्वम व्याप्तम तस्मय भगवते न हे वर्गोत्तम वर्ग रहने वालों में आप सबसे श्रेष्ठ अगर हमको आप वर देना चाहते हैं ईश बरान यद दास्यसी मैं जो मांगू वो वर आप हमको देते हैं तो सबसे पहले तो वर मैं ये चाहता हूं कि त्वत सृष्टि दो ऋतुदेव में मृत्यु ना हो आपने जितने प्राणियों की रचना की है उनसे मेरी मृत्यु न हो है नहीं हिरण्य कृष्ण था तो बुद्धिमान उनके ब्रह्मा जी से हम कोई संपत्ति मांग लें राज्य मांग लें अच्छा जल कुछ रहें हमारी आयु कुछ न हो तो किस काम का होगा क्या करेंगे उस पर का आप लोग सुनते रहते हैं रेडियो में कोई कोई चुनाव जीत भी गए और वैसे साल दो साल ही रहे बेचारे मर गए बड़ी हत्या करके पहुंचे नहीं मर गए क्या फायदा क्या लाभ हुआ हिरण कर ने सोचा पहले पहले तो अमरता मांगनी चाहिए अब ब्रह्मा जी से और वर्ग और वस्तु तो पीछे मांगे पहले तो अमरता मांगनी चाहिए कि हम मरे नहीं और वैसे फिर अरब खराब में वृद्धि हो और उदय अस्तनो रात और जो तुलसी निज मरण है फिर आ गए कुछ का तो क्या करेंगे मर गए तो तो सबसे पहले अमरता मांगी उसने कि महाराज आपकी सृष्टि में जितने प्राणी हैं उनके द्वारा मैं मरू नहीं ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा जाओ नहीं मरोगे उनके द्वारा फिर बोला कि न मैं अंतर बहिष्ठ न मैं बाहर भी न मरू न भीतर मरू दो ही प्रकार का देश होता है घर के भीतर घर के बाहर ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा न तुम भीतर मरोगे घर के न बाहर मरोगे फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ कि दिवा न तंज न रात्रि में मरू न दिन में मरू ब्रह्मा जी कह रहे भाई बात हो तो गई फिर और क्या और सही ये भी सही न तुम रात्रि में मरोगे न दिन में मरोगे बोलो किसी आयुष से मेरी मृत्यु न हो आयुष है न ब्रह्मा जी ने कही भाई ठीक तो है समझ लिया किसी आयुष से भी चलो मृत्यु ये भी लिखो किसी आयुष से भी तुम्हारी मृत्यु न होगी बोले महाराज और ठहरा हुई और मैं पक्का कर लू मरता को ये क्या पक्की करेगा और बोला पृथ्वी पे न मरू ना आकाश में मरू घूमो अंबरे चलो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ये भी दिया महाराज थोड़ा अभी एक बात और रह गई क्या कि न मनुष्य के द्वारा न पशु के द्वारा नरईर न मृगर न ब्रह्मा जी ने कही भाई चलो सप्राणैर न अप्राणैर न जिसके प्राण चलते हैं उससे भी मृत्यु न हो जिसके प्राण नहीं चलते इन पत्थर से भी मेरी मृत्यु न हो ब्रह्मा जी ने कही तू खूब पक्का कर ले युद्ध में मेरे मेरा सामना कोई न कर सके लोग कालानाम महिमानम तबच मेहमानम दे आपकी जैसी महिमा है वैसी मेरी हो जाएगी आप खूब है ब्रह्मा बोले बेटा ताते में दुर्लभा पुरुषाम ज्ञान से बढ़ाने जो तुम बड़ा मांग रहे हो दुर्लभ है राम वितराम लिंगो बड़ी तपस्या की ब्रह्मा जी उनको वर दे करके और देखते देखते अपने ब्रह्मलोक को चले गए सत्य लोकम जवामो और तो प्राप्त वर प्राप्त करके वो थी हिमयम बपुर विभ्रत स्वर्ण के समान चमचम चमकता हुआ शरीर जिसका अपने भाई के गैर पद का स्मरण करके देवताओं से द्वेष करने लगे सब को जीत करके उसने त्रिलोकी को जीत करके अपने वश में कर लिया वो जब बैठता था इंद्र भवन में जाकर के इंद्रागर देवताओं को निकाल के बाहर किया इंद्रलोक में जाकर के स्वयं सिंहासन पर विराजमान होता था मदरा पान करके वहां बैठता था धर्म हे धर्म न मत्तम तम मदरा पी करके नशा में धुप्त होकर के इंद्र के आसन पर बैठ जाता बोला ब्रह्मा विष्णु और शिव इनको छोड़ करके और ऐसा कोई देवता नहीं था जो उसकी उपस्थिति न दे सबकी उपस्थिति ली जाती वहां इंद्र उपस्थित उसमें महाराज हूं हम्म, खड़ा हूं कुबेर और उपस्थित उसमें साफ अपनी अपनी उपस्थिति देते बल इन तीन देवताओं की वहां उपस्थिति नहीं होती और साफ को उपस्थिति देनी पड़ती नारद जी कहते हम भी उसके गुणगान किया करते नृत्य करती थी ऋषियां ऋषि लोग उनकी स्तुति करते थे समुद्र अपने आप रत्नों को बाहर क्यों दिया करते थे ये नहीं होता और जाए और फिर वहां से रत्न निकाल के लाना अपने आप रत्नों को बाहर फेंक देते थे नदियों घृत दुग्धादि दुग्धाधीन गुहू पर्वता क्रीड़ा स्थानम गतु वृक्षों पर हर समय पुष्प फल लगे रहते इसकी विश्ववृत्तियों के लिए आज्ञा थी कि प्रत्येक ऋतु हर समा सदा वर्तमान है कभी ऐसा न हो कि वृक्षों पर फल न हो या पुष्प न हो या पत्ते न हो कभी बदजड़ हो जाता है वृक्ष कितने बदले लगते हिरण्यकश्यप के राज्य में कभी ऐसा नहीं होता था कोई पतझड़ भी हो जाए सदा पुष्प फल और सब लगे रहते थे सर्व ऋतुषु पुष्प फलादी लघु सब लोग पालों के गुणों को अकेला धारण करता था जहां कहीं यज्ञ होते थे अनेक गुण धारण करके यज्ञों में पहुंचता था और देवता उसके शासन से दुखी होकर के भगवान की प्रार्थना करने लगे गत निद्रा वायु भोजना देवा हरिम तुष्टु भगवान की स्तुति की भगवान बोले रे देवताओं डरो मत थोड़ा और प्रतीक्षा करो यदा देवेशु वेदेशु गोषु मित्रेशु साधुषु धर्मे मय चेदेशा सवा सभा आशु विनिश्चिति जब कोई व्यक्ति देवताओं से द्वेष करने लगे वेदों का खंडन करने लगे गो ब्राह्मण का तिरस्कार करने लगे साधुओं का तिरस्कार करने लगे और धर्म का उनसे द्वेष करने लगे तो समझो आप ये नष्ट होने वाला है देवता बोले तो ये तो सारे काम कर रहा है <clears throat> तो अच्छा ये जब परम शांत निर्दय अपने पुत्र से निर्देश करेगा तो चाहे ब्रह्मांड में कितने बल ले जाते हैं उसको हम भाव देवताओं को ऐसा कहकर भगवान निकला और कहते हैं प्रहलाद जी को प्रहलाद जी सबको प्यारे लगते थे बड़ों के चरणों में दास के समान झुके रहते थे छोटों पर दया करते थे बराबर बराबर वालों को भाई के समान समझते थे और अपने गुरु में तो ईश्वर की भावना रखते थे विद्या स्वरूप जन्मात्यो मानस संग विवर्जित बड़े पंडित भी थे विद्या उनके पास थी बुद्धिमान थे सुंदर रूप भी उनका सुंदर था और कशपू के राजा के पुत्र थे अभिमान के कारण सब थे पर अभिमान नहीं था उन्हें और सबसे बड़ा गुण क्या था कि लोग विघ्न चित्तो शनिशु तो मैं कभी घबराते नहीं थे और दृष्ट और श्रुत जो विषय हैं उनमें कभी उनकी इच्छा नहीं होती जब लोग कोई विलास में जाते हैं वहां का वर्णन करते हैं वो तो ऐसे देश हैं क्या कहना हाँ। दूध वहां इतना बढ़िया मिलता है ये चीज मिलती है तो लोगों की इच्छा हो जाती है देखें देखें क्या प्रहलाद के सामने तो कोई कहीं की कितनी प्रशंसा करो चाहे स्वर्ग की चाहे देश की चाहे वहां की दृष्ट और श्रुत देखी हुई और सुनी हुई वस्तुओं में कभी उनकी स्प्रहा नहीं होगी के निर्यप्राण शरीर भी सदा प्रशांत कामो रजता सुरोसर सुरोसुर इंद्रिया उनके बस में थी उनकी बुद्धि शांत थी उनके बड़े बड़े गुणों को जो है बड़े बड़े पंडित वर्ण स्वभाव में करा कर देवनाथ जगियन से यथा भगवत ईश्वर जैसे भगवान के गुण गाए जाते हैं उसके प्रहलाद के गुण भी आज तक गाए जा रहे हैं स्वर्ग में देवताओं की सभा में अगर देवता यदि की शत्रु हैं दैत्यों के तो भी देवताओं में भी जब ये चर्चा चलती थी कि भाई आजकल सबसे बढ़िया भक्त कौन है भगवान तो देवता भी कहते थे प्रहलाद प्रहलाद प्रतिमानम प्रभु अरे ये तो प्रहलाद का प्रहलाद जैसा भगत है प्रतिमानम प्रकुरवंती मुकाम ने भवादृषा और कहां तक उनके प्रहलाद के गुणों को की गणना करें सबसे बड़ा गुण ये उनमें था वासुदेवे भगवती यसे नैसर्गिक रती ही भगवान के चरणों में उनकी स्वाभाविक प्रीति थी <clears throat> बैठे होते घूमते होते खाते पीते नाम संदत्ते तान गोविंद परिगम भगवान के ज्ञान में मस्त रहते हैं अभी उन्होंने भोजन किया है उनसे पूछो प्रहलाद से तुमने दाल खाई की थी जो भूल को बोला हमको ये पता नहीं दाल खाई थी साथ खाई था बिल्कुल तो पता आत्मदीय नाम ये काम इनका अनुसंधान नहीं रहता रसगुल्ला जी कभी भगवान के ध्यान में मस्त हो जाते रोने लगते चिल्लाने लगते हंसने लगते रोमांच हो जाते वो स्वयं आनंद में मग्न रहते और जो उनके संपर्क में आता जो कोई व्यक्ति वो भी आनंदित हो जाता है ऐसे भगवत भक्त प्रहलाद से हिरण्य कृष्णों का द्वेष हो गया विष्णु बोले महाराज ऐसे अपने बच्चे से कौन द्वेष करेगा बेटा इतना नम्र बालक भगवान का भक्त उससे द्वेष नहीं पिता तो पुत्र से द्वेष तो कोई नहीं करता है शिक्षा भी देता है उपालवंत शिक्षा अर्थम उसको दंड भी देते हैं तो शिक्षा के लिए द्वेष तो नहीं किया करते और प्रहलाद जैसे साधु सज्जन उनसे कौन द्वेष करे महाराज जी बोले फिर चलो देखो द्वेष का कारण बताते हैं हिरण्य कश्मीर के सरोज जी कौन थे भगवान काव्य शुक्राचार्य के विरोध थे और शुक्राचार्य के दो पुत्र थे शंड और अमर वो हिरण्य कश्यू के घर के पास ही उनका घर था महल था तो हिरण्य कश्यू ने प्रहलाद को पढ़ने को भेज दिया उसी विद्यालय में तौराज्ञा प्राप्तम बालम प्रहलादम नय कोविदम पाठयाना तो पाठ्यान अन्याश्चात्र बालका और भी बच्चे पढ़ते थे तो संडावर्त जो है बड़ा भारी विद्यालय था उनका और भी दैत्यों के बालक वहां सहस्त्रों की संख्या में पढ़ते थे हिरण्य कटकू ने अपने बालक को वहीं पढ़ने को भेजा जहां सब साधारण बच्चे पढ़ते हैं देखो ये भी एक विशेषता हुआ कितना बड़ा साम्यवाद है इतना राजा महाराजा होता हुआ भी ये नहीं हुआ चलो उनको कह रहे पंडित जी हमारे यहां पढ़ा जाए करो बच्चे को यहां ट्यूशन नहीं लगाई उन्होंने पढ़ाने को वहां नहीं बुलाया था वहीं भेजा जहां सब साधारण बच्चे पढ़ते थे हिरण्य कृष्ण पूजा होता हर एक में कोई दोषी दोष थोड़े होते उनके गुरु भी तो देखो तो उसके देवता भी जिसके सामने डरते थे इतना बड़ा जिसका शासन था और वो अपने बच्चे को पढ़ने वहां भेजे जहां सर्वसाधारण बच्चे पढ़ते अच्छा है कोई ऐसा आजकल राष्ट्रपति है ऐसा तुम्हारा जो साम्यवाद साम्यवाद चिल्लाते हैं वो साधारण बच्चों के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं क्या वही भेजा प्रहलाद को पढ़ने के लिए वहां प्रहलाद जी पढ़ने लगे यदा सुररा पुत्र अं- अं- अंकमारोप्य पांडव वप्रच वत्स मन्यते साथ यद भगवान प्रहलाद जी पढ़ते तो थे वहां पर गुरु जी जो पढ़ाते थे उसको सुन लेते थे और उनको सुनाई भी देते थे पाठ तो अब भीतर मन में उन बातों को नहीं आने देते <clears throat> वो तो नीति शास्त्र पढ़ाते थे एक दिन हिरण्यकश्यपु ने गोद में लेकर के प्रहलाद को पूछा बेटा बताओ वक्त मन्यते साधयत हुआ तृतीय दिन पढ़ करके तुमको जो बात ठीक याद हो जो तुमने बात ठीक समझी हो वो अपनी कोई सुंदर सी बात तुमको सुना प्रहलाद जी बोले पिताजी हमको जो अच्छा लगता है जो हमको याद है सुनाने तत्तागमने सुरवरीयते देनाम सदा समुद्दीर्ण धियामतग्रहात्मतापम किरणम बनम रतू यद हरिमाश्रय तो प्रहलाद जी बोले पिताजी हमको तो ये अच्छा लगता है क्या कि ये घर गृहस्थ में रहने वालों की बुद्धि हमेशा व्याकुल रहती है सदा विघ्न ध्यान जिनकी बुद्धि हर समय व्यापित है क्यों असत ग्रह असत वस्तुओं में उनकी बड़ी ममता इसलिए हमको तो यह अच्छा लगता है कि आत्मा के पतन का कारण जो घर गृहस्थ है इसको छोड़ करके वन में जाकर के भगवान की शरण ग्रहण करना हमें तो ये अच्छा लगता है वनम गतो यद हरिमाश्रय था मन में जाकर के भगवान का ध्यान देन करना सारे प्रपंच को छोड़ करके हमको ये अच्छा एक टीका कारण ने अर्थ किया इसका यही अर्थ मत समझो घर बार को छोड़ के वन में जाकर के हनी का आश्रय लेना यही इसका अर्थ नहीं इसका एक अर्थ इसका ये भी है यदि हरमाश्रय तो सवनंगते घर गृहस्थ में रह करके भी जो भगवान का भजन करता करता है वो मानो बन में ही गया हुआ हम्म। और जो वन में जाकर के भी प्रपंच की बात करता है मानो घर गृहस्थ में ही रहता है ऐसे भी लोग मिलेंगे घर गृहस्थ में रहने वाले लोग तो भी कुछ भजन कर लेते हैं नियम कर लेते हैं तुम ऐसे ऐसे साधुओं को देखोगे यहां भजन का नाम ही नहीं है सिवा पटान बात तो इसलिए यद हरिमाश्रय तो सा वरंगत जिसने हरि का आश्रय लिया है भगवान का जो भक्त है भगवान का भजन करता है उसे समझो ये बन में ही गया हो और ये धन में जाकर के नहीं बहिम बहिर्मुख है सात ग्रहण बताइए अरे वो तो घर गृहस्थ में माना पड़ता हिरण कष्ट बोला हो उनसे चंडामर्ग से कैलाश से कुछ नहीं कहा अरे इसकी देख रेख ठीक ठीक रखो देखो ये कहीं हमारे शत्रुओं लोग जो हैं इस बच्चे को बहका नहीं जाना श्रुवा पृथ्वीरो दैत्य परपक्ष समाहिता जहाज बुद्धि नाम विद्यते पर बुद्धि कहते हैं बच्चों की बुद्धि दूसरे के बहकानों से बहकाने से बहक जाती है उनसे कहा सम्यक विधार्यताम वाला इस बच्चे की देखरेख ठीक ठीक रखो भगवान विष्णु के पक्ष के जो लोग हैं कहीं आकर के हमारी बच्चे की बुद्धि को बिगाड़ न दें इसलिए कहते हैं और बोलो विष्णु भक्त को तो कोई तिलक बाबा तो हमारे यहां घुस ही नहीं सकता अरे के छिप करके आ सकते हैं प्रतिक्षण नहीं है विद्य का सिद्ध छिप करके आ सकते हैं और गंगामर तुम तो प्रहलाद जी को वहां लाए विद्यालय में और कहा बेटा ये बताओ सच्ची सच्ची बात बताना ये जो तुमने अपने पिता के सामने कहा बनंगत ये धर्माशय का ये तुमको किसने सिखाया किसने बताया हमने तो तुमको पढ़ाया नहीं कभी ये बात प्रहलाद बोले कि स्वपरस्थित सदग्राह पुंसान जन्माया था ये अपन ये मैं हूं ये पराया है ये भेद बुद्धि जिन भगवान की माया से मोहित होने के कारण जिस जिन में है उन भगवान को मैं प्रणाम करता विमोह